आप वहाँ बेंच पर बैठ जाइए मैडम को आ जाने दीजिए फिर आप जाइए विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा नैना वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई अभी थोड़ी देर पहले तो उसने टीम लीडर के तौर पर ज्वाइनिंग की है और इतनी जल्दी यहाँ इन्वेस्टिगेट करने भी आ गई विक्रांत इंटेरोगेशन रूम के बाहर ही लगे बेंच पर जाकर बैठ गया वो सोच में पड़ गया आखिर ये नैना साजिद का इंटेरोगेशन करने क्यों आ गई कहीं उसको यहाँ किसी मकसद से तो नहीं भेजा गया है अचानक ही उसका ट्रांसफर डीएन नगर बांच पर हुआ वरना वो तुरंत साजिद को इंटेरोगेट करने क्यों आती कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है और भला नैना साजिद से क्या पूछताछ करेगी उसे तो अभी ज्यादा कुछ पता भी नहीं है मैं तो मान लो साजिद का लाइट डिटेक्टर करने आया हूँ और मुझे तो किडनेपिंग केस से लेकर मंजू के मर्डर केस तक हर चीज अच्छे से पता है और मैं साजिद से इसी से रिलेटेड सवाल पूछने वाला हूँ लेकिन वो वो भला साजिद से क्या पूछ रही होगी विक्रांत ने अपना फोन निकालकर टाइम देखा टाइम देखकर उसने अंदाजा लगाया कि नैना को यहाँ आए बामुश्किल पाँच सात मिनट ही हुए होंगे सो उसने सोचा कि नैना का यहाँ बाहर ही थोड़ी देर इंतजार करना ठीक रहे वैसे नैना का ख्याल आते ही विक्रांत के दिल की धड़कने तेज हो जाती वो नैना से बहुत सारी बातें करना चाहता है उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है लेकिन वैसे ही वो विक्रांत के सामने आती है उसे ना जाने क्या हो जाता है उस वक्त वो बातें करने के बजाय नैना से लड़ने लग जाता है अब नैना यहाँ मेरे ब्रांच में आई है तो हो सकता है कि अब मैं उसके और करीब जा सकूं क्या पता मेरी नैना के साथ जोड़ी बन जाए इस तरह के ख्याल के साथ विक्रांत का दिल खिल उठा तभी विक्रांत को ध्यान आया कि नैना यहाँ तुरंत ही आई है इसका मतलब उसे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला है इस विचार के साथ ही विक्रांत को आज अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोडवर्ड तूफान और पानी की याद आ गई क्या पता पानी वाला कोडवर्ड नैना के लिए ही दिया गया हो ये सोचकर तुरंत ही उसके दिमाग में एक प्लान आया अगर उसका ये प्लान काम कर गया तो फिर ना सिर्फ नैना और उसके बीच दोस्ती बढ़ेगी बल्कि साजिद वाला काम भी आसानी से हो जाएगा विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर पिज्जा हट में फोन करके दो सेट पिज्जा ऑर्डर कर दिया बामुश्किल पंद्रह मिनट के भीतर ही उसके पास पिज्जा की डिलीवरी होगी और फिर इसके ठीक आठ मिनट बाद नैना भी इंटेरोगेशन रूम से बाहर आ गई बाहर आते ही जब उसने विक्रांत को सामने बेंच पर बैठे देखा तो वो शॉक्ड रहेगी तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए नैना ने गुस्से से भरे लहजे में कहा ए, मुझे पता था मुझे पता था कि तुम सबसे पहले मुझसे यही सवाल करोगी विक्रांत ने पिज्जा का एक पैक उसके आगे बढ़ाते हुए कहा लेकिन नैना उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई फिर विक्रांत भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा लेकिन अगर मैं मैं भी यही बात कहूँ तो नैना ने बिना पीछे देखे ही पूछा मतलब मतलब छोड़ो नैना तुम बताओ तुम्हें कुछ साजिश से नहीं पता चला ना है ना विक्रांत ने सवाल किया अब नैना का कदम रुक गया वो ठहर कर विक्रांत की बात सुनने लगी देखो नैना तुम्हें याद है ना मैंने नितेश से कैसे पूछताछ की थी मैं अपने सारे सवाल रेडी करके आया हूँ सोचो हम साथ में उसे इंटेरोगेट करेंगे तो पक्का है जरूर कुछ ना कुछ सामने आएगा विक्रांत की बात सुनकर नैना पीछे पलट गई और वो विक्रांत की तरफ देखने लग गई वैसे उसे विक्रांत की काबिलियत पर पूरा भरोसा था उसने पहले भी विक्रांत को इंटेरोगेट करते देखा है हम्म, ये हुई ना बात विक्रांत ने उसकी तरफ पिज्जा का पैक बढ़ाते हुए कहा पहले इसे खा लेते हैं फिर काम शुरू करते हैं नैना को विक्रांत की बातों से कोई विशेष आपत्ति नहीं थी बल्कि वो खुद विक्रांत के इंटेरोगेशन के तरीके को देखना चाहती थी सो पहले दोनों ने फटाफट पिज्जा खत्म किया और फिर वो साथ में ही इंटेरोगेशन रूम में गए वहाँ इंटेरोगेशन रूम में अभी तक साजिद बैठा हुआ था चूंकि नैना के बाद विक्रांत को भी उससे इंटेरोगेट करना था तो साजिद को दोबारा से उसके सेल में नहीं भेजा गया साजिद का चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था उसे काफी चोट लगी हुई थी और उसकी जांघों पर भी पट्टी लगी हुई थी विक्रांत के साथ नैना को अपने सामने देख साजिद बौखला सा गया ये इंटेरोगेशन कब तक चलता रहेगा साहब मैं सब कुछ सच सच बता चुका फिर भी आप लोग एक के बाद एक इंटेरोगेट करने चले आ रहे हैं आप लोग चाहते क्या हो अगर आप लोग ऐसे करोगे तो फिर मैं मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा और मैडम आप आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे पूछताछ करके गई थी ना और फिर से आ गई और आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा साजिद की बातें सुनकर नैना का पारा काफी हाई हो गया था वो चलकर साजिद के पास पहुंची और फिर उसकी जांघों की तरफ इशारा करते हुए कहा ये तुम्हारे पैर से खून कैसे बह रहा है खून कहाँ खून साजिद चौंक नीचे अपने पैरों पर देखने लगता है इसी बीच नैना के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे को जाकर डिफ्यूज कर दिया फिर आकर साजिद के करीब खड़ी हो गई दिखा खून तुम्हें ना ना नहीं तो कहाँ है खून साजिद ने आश्चर्य से पूछा विक्रांत समझ गया था कि नैना अभी क्या करने की सोच रही है वो तुरंत उठकर भागते हुए नैना के करीब पहुंचा और उसे पकड़कर साजिद से दूर ले जाने लगा नहीं नैना रुको रुको अब जाकर साजिद को समझ में आया कि नैना उस पर अटैक करने वाली थी ये बात उसे अच्छे से पता थी अभी उसके पैर का घाव भरा नहीं और नैना का एक ही प्रहार उसे आराम से महीने भर के लिए अस्पताल पहुंचा देगा तुम लोग चाहते क्या हो क्या मुझे मार कर सब कुछ कबूल करवाना चाहते हो ऐसे जबरदस्ती में मैं कोई बयान नहीं दूंगा तुम चाहे मुझे मार ही क्यों ना दो चुप चुप बिल्कुल चुप हो जा तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ विक्रांत ने साजिद को जोर से फटकारते हुए कहा साजिद की आवाज सुन नैना और अग्रेसिव हो गई और वो पूरी ताकत से खुद को विक्रांत की पकड़ से छुड़ाकर साजिद पर अटैक करना चाहती थी नैना प्लीज शांत हो जाओ प्लीज मैं मैं बात कर रहा हूँ ना तुम शांत हो जाओ मैं मैं बात करता हूँ ना please Naina please calm down इसे कुछ हो गया तो हमें फिर से इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और फिर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा विक्रांत किसी तरह से नैना को संभालने की कोशिश कर रहा था तभी साजिद पीछे से फिर से बोल पड़ा तुम तुमने ही तो मेरे पैर में गोली मारी थी ना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा एक बार मेरा लॉयर आ जाए फिर बताता हूँ कोर्ट में जाकर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ तुम दोनों के ऊपर केस करूंगा मैं अब तो साजिद ने भी हद कर दी थी उसकी बातों ने विक्रांत का खून खोला दिया विक्रांत बिना कुछ सोचे समझे जोर से लात उठाकर साजिद की जांगों पर मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन तभी नैना ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पीछे धकेल दिया जिससे साजिद की टांग बच गई लेकिन फिर भी विक्रांत का पैर साजिद की जांग पर लगी पट्टी से हल्का सा टकरा गया और वहां से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया साजिद दर से चीख उठा विक्रांत को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ सॉरी सॉरी एक मिनट नैना मैडम आप शांत होकर बैठ जाइए मैं मैं भी बैठ जाता हूँ विक्रांत और नैना अब शांत होकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए साजिद भी डरा सहमा हुआ उन दोनों के सामने बैठा हुआ था अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी